जैसे ही विक्रांत के मुंह से ये बात निकली वहां मौजूद लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा सिर्फ मोनिका अभी तक विक्रांत की बाहों में सिर रखकर जोर जोर से रोए जा रही थी हे हे टीवी देख रहे कासिम भाई ने भी विक्रांत पर एक नजर डाली और फिर बुदबुदा उठा बेवकूफ <laughs> वहां खड़े बाकी के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे जिस आदमी ने अपने हाथ से कार्ड स्वाइप वाली मशीन ली हुई थी वो भी हैरान होकर हंस रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे देखो ब्याज में उधार देने का जो नियम है वो ये है कि उधार देने के बाद हर महीने चार परसेंट या पांच परसेंट इंटरेस्ट लिया जाता है उस हिसाब से अगर जोड़ोगे तो इसके अस्सी हजार के आठ महीने का कुल ब्याज मिलाकर हुआ एक लाख रुपया और वैसे भी इस तरह ब्याज में देने वाले इतना इंटरेस्ट लेते भी नहीं है तुम लोगों ने कुल एक लाख साठ हजार का बिल बनाया और फिर दस हजार का डिस्काउंट देकर एक लाख पचास हजार रुपए ले रहे हो किस हिसाब से भाई और फिर तुमने इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती भी की है उसका भुगतान कौन करेगा विक्रांत का हिसाब सुनकर वहां पर मौजूद लोग उसे थोड़ी अलग नजरों से देखने लगे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत का गणित उनकी समझ से बाहर था दरअसल विक्रांत इस तरह के ब्याज पर पैसे का लेन देन करने वालों का हिसाब बहुत अच्छे से जानता था अपने पिछले जन्म में तो यही सब किया करता था तब वो अपने बॉस के कहने पर अक्सर लोगों से उधार के पैसों की वसूली करने के लिए आता जाता था और तब से ही उसे ये ब्याज पर पैसे बांटने वालों के नियम कायदे अच्छे से पता थे वैसे जब विक्रांत यहाँ शुरू में आया था तब वो सिर्फ मोनिका को यहाँ से बचा कर ले जाना चाहता था उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था मोनिका को सेफ ले जाने के लिए वो इन लोगों को मुंह मांगा पैसा भी देने को रेडी था लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा कि इन लोगों ने मोनिका के साथ जोर जबरदस्ती की है फिर उसका खून खोल उठा वैसे विक्रांत इन लोगों की ऐसी हरकत से अच्छी तरह वाकिफ था जब वो खुद अपने पिछले जन्म में वसूली करने के लिए जाता था तब वो भी लोगों को डराने धमकाने के लिए उन्हें खूब पीटता था औरतों को परेशान करता था उनके साथ छेड़खानी वगैरह भी करता था लेकिन तब की बात और थी अब तो विक्रांत खुद पुलिस वाला है और लोगों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है अब भला वो अपने सामने किसी औरत की बेजती होते कैसे देख सकता है भाई तू कहा से है जरा बताएगा गजब आदमी है तू तो एक आदमी ने विक्रांत की बातें सुनने के बाद उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा मैं सुपारी गैंग उस्मान सुपारी गैंग में काम करता हूँ विक्रांत ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा भाई अभी जेल में है वरना तुम लोगों का अब तक हिसाब कर दिया होता उन्होंने विक्रांत ने उसी उस्मान सुपारी का नाम लिया था जिसको उसने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के छापे में पकड़वा कर जेल भेजा था उस्मान और उसके गैंग को विक्रांत ने खूब पीटा भी था उस्मान सुपारी गैंग इन छोटे मोटे गैंगस्टर के बीच काफी फेमस था जैसे इन लोगों ने उस्मान सुपारी का नाम सुना तुरंत ही उसे जान गए ओ तो तुम उस्मान सुपारी भाई के आदमी हो अच्छा चलो बताओ तुम अभी क्या चाहते हो सोफे पर बैठे कासिम ने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा तुम लोगों ने जितने पैसे मांगे मैंने दे दिए अब बस मुझे उस आदमी का नाम बता दो जिसने इसके साथ बदतमीजी की है विक्रांत ने मोनिका के बालों को सहलाते हुए कहा फिर क्या करेगा तू वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने विक्रांत से पूछ लिया मैं उससे अपना हिसाब बराबर करूंगा साले के हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा ए वहां खड़े लोग विक्रांत को देखकर चिल्ला उठे तू तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सोफे पर बैठे कासिम भाई ने हाथ से इशारा करते हुए अपने सभी गुर्गों को शांत किया तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आदमी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा वो आदमी जो मेरे लिए काम करते हैं उन्हें मैं तुम्हारे हवाले कर दूं क्यों नहीं मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं तुम्हारा तो फायदा हो रहा है ना फिर तुम्हें अपने आदमी से क्या मतलब मुझे अपना हिसाब बराबर करने दो विक्रांत ने जवाब दिया वैसे भी तुम्हें अपना धंधा बचाना है या अपना आदमी देख लो तुम और डिसाइड कर लो विक्रांत ने जवाब दिया अबे तू इधर मरने के लिए आया है क्या एक आदमी ने बीच में ही चिल्लाते हुए कहा <laughs> बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है तू तो कासिम ने टीवी को रिमोट से म्यूट कर दिया अब वहां पर सिर्फ सीन ही चल रहा था सुन ये मेरा एरिया है और यहाँ सिर्फ मेरा रूल चलता है इस लड़की ने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए अब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा इसके साथ समझा कासिम ने कहा और सुन यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना सब ने इस लड़की के मजे लिए हैं क्या आइटम है रे मजा आ गया उम्मा एक बार और फिर मिल जाती तो मजा आ जाता दूसरे आदमी ने अपने होठों को चबाते हुए कहा अच्छा सुन तेरे लिए एक और ऑफर है कासिम ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं तुझे इस लड़की के दस हजार दे रहा हूँ छोड़ दे इसको यहाँ मेरे आदमियों का मन बदलता रहेगा <laughs> ये सुनकर विक्रांत का खून उबल पड़ा मोनिका भी उसकी बाहों में सिस्कियां लेते हुए रोने लगी विक्रांत सर चलिए यहाँ से प्लीज चलिए मुझे डर लग रहा है प्लीज चलिए एक मिनट मोनिका डरो मत तुम तुम शांत हो जाओ मैं हूं ना विक्रांत ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा <laughs> क्या हुआ बेबी डर गई क्या अले ले ले ले ले डलो मत बेबी इस बार और अच्छे से करेंगे <laughs> सामने खड़े एक आदमी ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा उसने अपने हाथों में मोनिका की ब्रा भी पकड़ रखी थी वो इसे अपने हाथों में लेकर काफी अजीब तरीके से मसल रहा था ऐसा लग रहा था कि यहाँ सारे के सारे जाहिल और साइको ही भरे पड़े थे विक्रांत ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए मोनिका से कहा मोनिका तुम जाओ वहां कमरे में जाओ मैं अभी आता हूँ विक्रांत ने सामने के खाली रूम की तरफ इशारा किया तुम लोग जल्दी मशीन लाओ और कार्ड स्वैप करो वैसे तुम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस है ना क्योंकि मुझे तो नहीं लगता जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उतने में इलाज हो जाएगा चलो कोई नहीं भीख तो मांगी लोगे तुम लोग विक्रांत ने उन सबको घूरते हुए कहा नहीं आप भी चलिए ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं चलिए यहाँ से प्लीज मोनिका ने फिर रोते हुए कहा हाँ, हाँ, हाँ, वहां खड़े बाकी के सभी लोग विक्रांत और मोनिका को देखकर जोर से हंस पड़े मोनिका जाओ विक्रांत ने मोनिका को खुद से दूर करते हुए कहा इसके बाद मोनिका धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसके हाथ में मोनिका की बरात थी वो मोनिका की तरफ देखते हुए बड़ी शैतानी मुस्कान चेहरे पर दिखा रहा था जैसे ही मोनिका उसके बगल से गुजरने लगी उसने अपने हाथ में ली हुई ब्रा मोनिका के ऊपर फेंक दिया ये मोनिका के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह से पड़ा था ब्रा फेंकने के बाद वो आदमी मोनिका के मुंह को अपने हाथ से पकड़ नहीं जा रहा था कि अचानक से उसके गाल पर एक जोरदार पंच आकर पड़ा और वो हवा में उछलता हुआ सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा एक पंच में ही उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया था मोनिका तुम जाओ कमरे में मैं देखता हूँ सालों को विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा अब मोनिका भी जल्दी से कमरे की तरफ भाग गई या एक दूसरा आदमी विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा लेकिन वो विक्रांत के ऊपर अपना हाथ छोड़ता उससे पहले विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़कर उसके सीने पर अपना दूसरा हाथ टिकाते हुए उसे हवा में उठा लिया धड़ाम तड़ाक विक्रांत ने उसे खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया बाहर पहले वो एक टीन शेड पर जा गिरा और फिर लुढ़कता हुआ नीचे जमीन पर धम करके गिर पड़ा उसके नीचे गिरने से वहां ताश खेल रहे लोगों को भी पता लग गया कि ऊपर कुछ गड़बड़ है उन लोगों ने तुरंत ही अपना गेम बंद किया और अपनी साइड में पड़े हुए हॉकी स्टिक को हाथ में लेकर ऊपर की तरफ भागने लगे अभी ये लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक चौवन इंच की बड़ी सी एलसीडी टीवी लुढ़कती हुई आती दिखी टीवी में से धुआं निकल रहा था स्क्रीन टूट चुकी थी जिससे पूरी सीढ़ी पर कांच फैल गया था उधर कासिम ने अपने आदमियों को इशारा किया तो वो तुरंत ही विक्रांत से भिड़ने के लिए टूट पड़े एक ने लपक कर विक्रांत का कॉलर पकड़ने की कोशिश की लेकिन विक्रांत ने उसके हाथ को पकड़कर ऊपर किया और फिर अपने सिर से उसके सीने में जोरदार प्रहार दे मारा वो पीछे हवा में उड़ता हुआ धड़ाम से नीचे जा गिरा तभी दूसरे ने भी विक्रांत के चेहरे पर पंच करने की कोशिश की विक्रांत बिजली की तरह से उसके पंच से बचते हुए उसकी गर्दन को अपने हाथों के बीच दबोच लिया और फिर उसके टांगों के बीच में जोरदार लात मारते हुए उसका भी काम तमाम कर दिया अब तक नीचे ताश खेल रहे लोग ऊपर आ चुके थे वो सीढ़ी खत्म करके विक्रांत तक पहुंचने ही वाले थे कि विक्रांत ने अपने सामने पड़ी टेबल को उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया कांच सहित ये टेबल आदमी के शरीर पर जा लगी जिससे टेबल का कांच टूटकर जमीन पर गिर गया और टेबल का लकड़ी वाला स्ट्रक्चर उसके गले में यूं फंस गया मानो उसे किसी ने लकड़ी की माला पहनाई हो वो आदमी तुरंत ही जमीन पर धराशायी हो गया और उसके साथ ही बाकी के तीन भी कांच लगने की वजह से पीछे हट गए विक्रांत आज थोड़े प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों से फाइट कर रहा था पिछले कुछ दिनों से वो नैना से ट्रेनिंग ले रहा था और फिर वो जिम में भी काफी मेहनत कर रहा था इस वजह से उसकी बॉडी तो फिट हुई थी ही साथ ही अब उसकी फाइटिंग स्किल भी अच्छी हो गई थी पहले तो जब वो किसी को मारता था तो सिर्फ बल का प्रयोग करके ही मारता था लेकिन अब वो बल के साथ ही थोड़ी बुद्धि भी लगाने लगा है ऐसे में आज विक्रांत को संभालना इन सब के बस के बाहर की बात थी उसी पल में उसने यहाँ के आधे से अधिक लोगों को घायल करके आराम की नींद सुला दिया था अभी विक्रांत टेबल फेंक कर खड़ा ही हुआ था कि एक आदमी उसके पीछे की तरफ से आया और उसके गर्दन में हाथ डालकर विक्रांत को दबोचने की कोशिश करने लगा लेकिन विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए पलटकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सिर को पकड़कर पूरी ताकत से अपने घुटनों से भिड़ाकर छोड़ दिया एक ही पल में वो आदमी भी जमीन पर चित होकर पड़ गया फिर विक्रांत अपने घुटनों को मोड़कर जोर से जंप लगाते हुए उसकी पीठ पर लैंड कर गया आ, पक्का था कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई होगी तभी एक और आदमी ने सामने से आकर विक्रांत के चेहरे पर लात से मारने की कोशिश करने लग गया विक्रांत ने तुरंत ही अपने हाथों से उसका पैर पकड़कर आगे की तरफ खींच दिया जिससे उसकी टांग फैल गई और वो आदमी जमीन पर चित हो गया जैसे ही वो जमीन पर बैठा तुरंत ही विक्रांत ने उसके मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया आ, आ, आ, उसकी चीख निकल गई और साथ ही होठों से खून बहना भी शुरू हो गया